सामवेदीय साम केन उपनिषद है इसमें प्रथम मंत्र का वाक्य भाष्य प्रवृत्ति लिंगाद विशेषार्थ प्रश्न उपपन्न ये वाक्य की व्याख्या है टीका में अच्छा भाष्य में हाँ टीका में है शिष्याचार्य हो प्रश्न प्रतिवचन रूपा श्रुति सुख प्रतिपत्ति अर्थात सुख से ज्ञान के लिए प्रभुता तत्र प्रश्न के ज्ञाते अज्ञाते वा चौद्य चोद्य निराशाय सामान्यतः ज्ञान हो विशेष अज्ञान नहीं हो तो प्रश्न हो सकता है जैसे विकल्प करते में विकल्प करते ज्ञाते अज्ञाते वा तो सामान्यतः ज्ञान हो विशेष ज्ञान नहीं प्रवृत्ति होती है तो कोई प्रवृत्ति का प्रेरक चेतन कोई है किंतु चेतन कौन है विशेष ज्ञान तो नहीं है तब तो प्रश्न होता है रथादिना ही चेतनावद अधिष्ठितानाम प्रवृत्ति दृष्टा नानधिष्ठितानाम रथादि जड़ है उनमें प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति का अर्थ व्यापार गमन इसे प्रवृत्ति चाहिए यत्न है आत्मा में चेतन में तो जो रथ में जो प्रवृत्ति का अर्थ चेष्टा रथ में व्यापार गमन होता है कब होता है चेतनावद नाम चेतना वाला चेतना वाला होता है चेतना चेतन से अधिष्ठित होने पर भी रथ में व्यापार चेष्टा क्रिया होती है न अनधिष्ठिता ना चेतन अश्वादि हो अथवा कोई खींचते हैं तब तो रथ चलता है नहीं तो ऐसे रहता है रथ प्रवृत्ति चेष्टा नहीं होती है मनादिनाम चेतना नाम प्रवृत्ति दृश्यते और मनादि जड़ है वो दृश्य है वो अचेतन है किंतु मन इधर उधर विषय करने जाता है चक्षुरादि इंद्रिय में प्रवृत्ति होती है व्यापार दिखता है वह हुआ लिंग तद्ध लिंगम चेतनावतो अधिष्ठातुर अस्तित्वे चेतनावतः अधिष्ठातुर अस्तित्वे तद् लिंगम और जो व्यापार जड़ में व्यापार दिखता है वो व्यापार ही लिंग किसमें चेतनावत अधिष्ठातु चेतना वाला चेतन कोई अधिष्ठाता है प्रेरक है इसी का लिंग है जड़ में व्यापार टीका में मनादिनामेव चेतनत्वात् अचेतन प्रवृत्तित्वाद इति असिद्ध हेतु रीति नाशंकनीयम इत्याह कोई चेतना वाला चेतन अधिष्ठाता प्रेरक कोई होगा क्योंकि मन आदि जड़ है अचेतन जड़ उनकी प्रवृत्ति चेष्टा व्यापार किंतु मन आदि अचेतनीय कैसे निश्चय हुआ कोई मन को भी चेतन मानते हैं मन इंद्रिय आदि सब चेतन है क्या व्यापार होता है मन आदि नाम है वो चेतन होता तो मन चक्षु आदि इंद्रिय तो ही चेतन है और कोई चेतन तो दिखता नहीं वही चेतन है तो उसमें अचेतन प्रवृत्तित्व हेतु के द्वारा चेतनावद अधिष्ठितत्व साध्य करते मन आदि का व्यापार चेतनावद अधिष्ठित अधिष्ठा अधिष्ठात्री पूर्वक अचेतन प्रवृत्तित्वात् रथ आदि प्रवृत्तिवत किंतु अचेतन प्रवृत्ति तो हेतु मन आदि व्यापार में कैसे रहेगा वो तो मन आदि चेतन है तो अचेतन प्रवृत्ति तो नहीं रहेगा वो तो चेतन प्रवृत्ति हो जाएगी मन का व्यापार अचेतन प्रवृत्ति तो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा पक्ष हेतु अभाव स्वरूप सिद्धि जो हेतु पक्ष में सिद्ध नहीं होगा वो साध्य क्या सिद्ध करेगा कोई हनुमान कहता हरदो बनीमान धूमा व्याप्ति तो है यत्र धूम धुमस तत्र बनी किंतु धूम नहीं है हृदय में तो बनी कैसे सिद्ध होगा हेतु पहले सिद्ध हो अचेतन प्रवृत्तित्व मन के व्यापार में अचेतन प्रवृत्तित्व सिद्ध नहीं है इति न नियम सिद्धांत कहते इसे शंका नहीं करना चाहिए क्यों नहीं मन आदि में तो चेतनत्व है अचेतन प्रवृत्ति तो हेतु नहीं रहेगा तो इसका करणानि ही मनादि ने नियमन प्रवर्तन्ते ये मनादि करण है नियमतः प्रभुत होते कर्ण जैसे तक्षक वास्यादि वासुलादि लेकर के काठ में कर्ण का काठ में कर्म करता है कर्ण को लेकर के कर्ण में प्रवृत्ति होती व्यापार उसको देकर उसको चेतन थोड़ी कहा जाएगा कुलाल घट बनाने के दंड पकड़ कर चक्र को घुमाता है चक्र घूम रहा है दंड घूम रहा है तो इतने मात्र से चेतन नहीं होता है वो तो कर्ण है इसी प्रकार मनादि कारण है नियमत प्रवृत्त होते हैं अन प्रवृत्त होते थे क्या सिद्ध हुआ तन्ना सती चेतनावत अधिष्ठात थे कोई चेतन वास्य दंड चक्र चेतन कुलाण नहीं घुमाएगा तो कैसे अपने आप घूमेगा कोई चेतन के बिना चेतनावती अधिष्ठातरी असति चेतना वाला चेतन अधिष्ठाता प्रेरक कोई नहीं हो तो इन चक्षु आदि मन आदि में जो व्यापार नहीं होता है वो नहीं होना चाहिए व्यापार दिखता है इसे मानना पड़ेगा कोई चेतन प्रेरक है मनाद में प्रवृत्ति कहाँ दिखती मन को तो कैसे दिखते हैं कहते अन्यत्र ना नादर्शम इत्यादि लोकानुभवात मनादिनाम करणत्वम सिद्धम तथा अचेतन अचेतनत्वम सिद्धम इत्यर्थ कहते कुछ देखा कोई सर बना रहा है कुछ कर्म कर रहा है इस रास्ता से में कोई गए देखा तो वो तो वहाँ मन में लगा बैठे बैठ कर यहाँ सुनते कभी सुना कुछ नहीं सुना अन्यत्र मनाभुवम अन्यत्र मनो यस्य स अन्यत्र मनाः प्रथमांत एकवचन है अन्यत्र मनाः अन्यत्र मनसो अन्यत मनस बने अन्यत मनस मन मेरा अन्यत चला गया इसे ना आदर्शम ना आश्रसम नहीं देख पाया नहीं सुना ये लोकानुभवात लोकानाम अनुभवात सामान्य लोगों का अनुभव है मन अधर चला अन्यतर चला गया तो मन में व्यापार दिखता है मन आदि नाम करण तुम सिद्ध मन आदि करण है ये निश्चित है ततः प्रद्योपत अचेतनत्व सिद्धम मन आदि अचेतनम करणत्वाद प्रद्योपत जैसे प्रदीप प्रकाश उसके द्वारा घट दिखता है प्रदीप के द्वारा दिखता है प्रदीप करण हुआ इसी प्रकार मन आदि भी करण होने के कारण अचेतन है अचेतनतम सिद्धम ठीक है भाष्य में तद विशेषस्य तद विशेषस्य च अनधिगमात चेतनावत सामान्य च अधिगते विशेषार्थ प्रश्न उपपद्यते तद विशेषस्य च अनधिगमात कोई चेतना वाला अधिष्ठाता प्रेरकत है ये तो निश्चय हो गया किंतु कौन है चेतना वाला चेतन कौन है विशेष वो ज्ञात नहीं अनधिगमात अधिक ज्ञान नहीं होता है कौन प्रेरणा करने वाला मन आदि को चेतनावत सामान्य च अधिगते चेतनावत सामान्य कोई चेतन है प्रेरक इतने तो ज्ञान हुआ किंतु कौन चेतन कौन प्रेरणा करने वाला ये ज्ञात नहीं होने से अभी सामान्य तो ज्ञात विशेष अज्ञात तो प्रश्न उपपद्यते विशेषार्थ विशेष को जानने के लिए विशेष के लिए प्रश्न हो सकता है सामान्य ज्ञान हुआ किंतु विशेष ज्ञान नहीं होता कौन चेतन कहाँ है कौन प्रेरणा करता है टीका में इच्छा मात्र नीति प्रयत्नादेव वो अच्छा विषय न तो आगे भाष्य में केने शीतम मंत्र में आया केने शीतम केन इष्टम अर्थात इच्छा का विषय इष्ट होता है केन इष्टम का तो कस से इच्छा मात्र न किसकी इच्छा मात्र से इच्छा मात्र कौन से इच्छा से ही और कोई व्यापार नहीं मन पतति गच्छति स्व विषय नियमेन व्याप्रियते इत्यर्थ मन पतति पतली गत्यर्थ के पतति का अर्थ गच्छति मन कहाँ जाता है सो विषय अपने विषय में संकल्प करता है विषय में नियम न व्याप्रियते बड़ा प्रयत्न करते मन को रोकने के लिए मन भागता है इधर-उधर सबका अनुभव है नियम तो प्रवृत्त होता है चलम च मन वृत्त मन का गुणवृत्तम मन चंचल है चंचलम ही मन कृष्ण का वो मन तो बड़ा चंचल है तो व्यापृत होता है अपने अपने अपने विषय में मन भागता ही रहता है तो मन किसकी इच्छा से जाता है मनुते अनेनैति विज्ञान निमितम अंतकरण मन प्रेषितम इव उपमार्थ मनुते अनेनैति मन मनुते मन कारण से जिससे ज्ञान होता है विज्ञान निमितम विज्ञान का जो निमित्त जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसको करण में क्या विज्ञान का निमित्त अनेन तो विज्ञान का निमित्त कौन से अंतकरण को मन शब्द से कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार वृत्ति को लेकर के अलग नाम होता है वृत्ति मत है अंतकरण अंतकरण को मन शब्द से यहाँ कहा नहीं कि संकल्पात्मक मन अंतकरण में व्यापार होता है मन किसकी इच्छा से प्रेषितम इव किसी की इच्छा से प्रेषितम प्रेरित होता है प्रेरित होता है कोई प्रेरणा करने वाला हो ऐसा नहीं जैसे कोई प्रेरणा करता है राजा भृत्य दौड़ते हैं करने के लिए राजा आज्ञा देते तो सब दौड़ते कोई प्रेरणा करने पर दौड़ते तो प्रेषितम इव प्रेषित जैसे इधर-उधर जाता है मन अंतकण किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के जैसे मन इधर-उधर भागता है टीका में इच्छा मात्रेणिति प्रयत्नादि अभाव लक्ष्यते कसे इच्छा मात्रण मात्र पद देने से प्रयत्न शब्द प्रयोग अन्य कोई व्यापार नहीं है व्यापार के बिना सानिधि मात्र से ही कोई किसके सानिधि से मन आदि प्रभुत होते हैं न तो इच्छा अस्तित्वम कस्य केन इष्टितम किसकी इच्छा से ऐसा कोई चेतन है उसकी इच्छा होनी चाहिए इच्छा होने के बाद ही जाता है ये अभिप्रेत नहीं है न तो इच्छा अस्तित्व तो इच्छा कोई है करके ये अभिप्रेत नहीं केन इष्टितम किसकी इच्छा मात्र का अर्थ प्रयत्न आदि के बिना जाता है सन्निधि मात्र से राजा आकर के उपस्थित हो जाने पर सब अपने कर्म करते हैं इसलिए यहाँ भी केन इषितम इस धातु इच्छा अर्थ को प्रयोग किया गया इच्छा से किसी के द्वारा जैसे प्रेरित हो करके राजा की इच्छा मात्र से लोग कर्म करते हैं इसी प्रकार यहाँ किसके सानिध्य से ये सब करते हैं प्रयत्न आदि के बिना सन्निधि मात्र से प्रवृत्त होते हैं ये अभिप्राय है न कि इच्छा अस्तित्व चेतन हो उसकी इच्छा भी होनी चाहिए ये जरूरत नहीं क्यों नहीं निर्विकारताया विवक्षितत्वात् ये तो आत्मा निर्विकार विवक्षित आगे उत्तर देंगे जो इच्छा आदि का प्रेरक है वो निर्विकार है आत्मा में कोई विकार होकर के प्रेरणा करता ऐसा नहीं निर्विकारता विवक्षित है प्रेषितमेवैति इव शब्द अध्यारण किम इति व्याख्यातम यथा राज्ञ इच्छा न काचिद भृत्य प्रवृत्ति काचिच वागादि व्यापरण तद्वद यह क्यों न स्यात् इति आशंका शंका करते हैं प्रेषितम के लिए भाष्य में दिया प्रेषितम इव इत उपमार्थ प्रेषितम इव तो इव शब्द अध्याहार करके इव शब्द तो श्रुति में नहीं भगवान भाष्यकार प्रेषितम को प्रेषितम इव इव शब्द का अध्याहार करके किमिति व्याख्यातम ये व्याख्यान क्यों किया गया जिस प्रकार राजा की इच्छा मात्र से कोई भृत्य की प्रवृत्ति होती है यथा राज्ञ इच्छा न काचित भृत्य प्रवृत्ति काचिच च आदि व्यापारण कोई भृत्य की प्रवृत्ति राजा की इच्छा मात्र से है और काचिच च आदि व्यापारण बागा आदि शब्द के कहता है किसको आदेश देता राजा तो दौड़ता है तदवदि यह किम न सत यहां भी कौन प्रेरणा देने वाले कोई कहीं इच्छा से कहीं शब्द से कहीं कर्म के द्वारा किसी प्रकार हो सकता है ऐसा क्यों नहीं होगा प्रेषितम इव क्यों प्रेषित वास्तव हो इति आशंका न तु न तु ईषित प्रेषित शब्द और अर्थ भी संभवत यहाँ ईषित प्रेषित शब्द का अर्थ यहाँ संभव नहीं इच्छा किसकी इच्छा से किसके द्वारा प्रेरित प्रेरित होकर के ये शब्द का अर्थ यहाँ संभव नहीं है नहीं व मनादिनी विषयव्य प्रेषित आत्मा जैसे आचार्य शिष्य को प्रेरणा करता है कुछ कर्म करने के लिए तो शिष्यानिव मनादिनि विषय प्रेषित आत्मा तो विषय के लिए प्रेरणा करता मन को लगाता है मनादि इंद्रियों को जैसे शिष्य को प्रेरणा करते हैं शिष्य को कहे ले गोले को चराने के जाओ सेवा करने के लिए कह दिया कुछ पढ़ने के लिए आदेश कर दिया तो जैसे शिष्यों का आदेश करते इसी प्रकार आत्मा विषय के लिए मन आदि को कहता तुम इधर विषय जाओ तुम इधर जाओ चक्षु को कहेगा तुम जाओ रूप ग्रहण करो मन को कहे उधर अब तुम भागो ऐसा तो नहीं होता है तो इसलिए यहाँ प्रेषित इसित शब्दार्थ संभव नहीं मुख्य अर्थ नहीं होगा प्रेषितम जैसे जैसे कोई प्रेरणा करने पर शिष्य करता है राजा का प्रेरणा से भृत्य अपने कर्म में लग जाता है इसी प्रकार इंद्रिय इधर-उधर दौड़ती है मन भी भागता है तो कोई जरूर प्रेरणा करने वाला जैसे होगा प्रेरणा इच्छा है प्रेरणा कहता है करता है शब्द प्रयोग करता है ऐसा नहीं है तो इसे प्रेषितम इव इसितम इव इसे कहा वास्तव प्रेरणा करता है शब्द आदि के विषय में चक्षु चक्षु सूत्र आदि ऐसा नहीं है ठीक है मैं सक्रियस्य सर्वस्य अन्यततया अवधारितत्वात् निष्क्रिय वस्तु पिपृच्छितम ततो च अर्थवेद संभवति तथा सक्रिय सर्वस्य अनित्यतया अवधारितत्वात् क्रिया अनित्य है न्याय के लोग सिखाते कर्म अनित्य है कोई भी कर्म नित्य नहीं तो क्रिया अनित्य होने से क्रिया विशिष्ट हो जो होगा वो भी सब अनित्य है सक्रिय से सर्व सनित्यतया अवगम अवधारितत्वाद सक्रिय जितने सब अनित्य है ऐसे तार्किक लोग कहेंगे परमाणु सक्रिय है परमाणु में क्रिया होती किंतु नित्य है वो कहते हैं तर्क शास्त्र में किंतु वो नहीं माना जाता है परमाणु पहले कि सिद्ध हो क्रिया विशिष्ट सक्रिय जितने पदार्थ दिखता है घटपट आदि दंड आदि में सब अनित्य है अनित्यता निश्चित हुआ निष्क्रिय और जो पूछ रहा है ये मन आदि का प्रेरक कौन वो तो सक्रिय वस्तु को पूछ नहीं पूछता यदि सक्रिय होगा उसकी क्रिया किसकी इच्छा से और प्रश्न हो जाएगा वो तो निष्क्रिय वस्तु पूछना चाहता है पिप्रचिष्टम प्रश्नम इष्टम तत्व न अर्थवेद थी तो यदि फिर उसका उत्तर देंगे वो भी क्रिया वाला तो अर्थ विशेष नहीं होगा अर्थभेद इच्छा प्रश्नादि रूप अर्थ विशेष न अर्थवेद इच्छा इष्टम प्रेषितम ये जो अर्थ विशेष है विशेष अर्थ इच्छा ऐसा प्रेषण आदि ये न संभवती क्योंकि यहाँ इच्छा आदि विवक्षित नहीं है सक्रिय अनित्य उसे विलक्षण निष्क्रिय वस्तु क्या है वो जानना चाहता है निष्क्रिय वस्तु में क्रिया नहीं हो सकती है इच्छा प्रेरणा आदि संभव नहीं है इसे जो अर्थ विशेष ईशण प्रेषण ऐसा प्रेषण इसका अर्थ विशेषण न संभवती इसलिए यहाँ इव का अध्याय करके व्याख्यान किया गया इव केन ईशितम प्रेषितम इव विषयभ्य प्रेषयति विषय ग्रहणार्थम विषयभ्य का विषय ग्रहणार्थम चतुर्थ अंत विषय के लिए मनु के विषय ग्रहण करने के लिए प्रेरण करता है कोई ऐसा नहीं इच्छा शिष्य को जैसे प्रेरणा करते ऐसे प्रेरणा नहीं तो सन्निधि मात्र से कैसे प्रेरणा होंगे उसमें तो दृष्टांत देते हैं नित्य चिकित्सायाम अधिष्ठातु चकुरस्य सन्निधि मात्रेण यथा राजभोजन आदि प्रवृत्ति निमित्तत्वं तद्वत इत्यर्थः व्याधि की चिकित्सा होती है रोग प्रतिकार के औषध सेवन करते हैं और नित्य चिकित्सा करते हैं सब लोग नित्य औषध खाते हैं नित्य औषध कौन है निच्छद व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षो भिक्षा रूप औषध सो करते नित्य चिकित्सायाम नित्य चिकित्सा ये नित्य चिकित्सा है रोज चिकित्सा है भोजन छेद व्याधि छुद रूप व्याधि है ये क्षुधा रूप रोग चिकित्सा करो भिक्षा भिक्षु भोजन करो तो राजा भोजन करेंगे या नहीं करते हैं सबको खाना पड़ता है नित्य चिकित्सायाम वो एक राजा आदि अभी भी मंत्री आदि लोग होते हैं ना उनको खाने के लिए ऐसे नहीं खा सकते जब चाहे जो कुछ खा नहीं सकते उसको सब परिचय करेंगे <laughs> भूख लगती है कुछ खाने के लिए खाद्य आ गया और तुरंत नहीं खा सकते <laughs> पहले सब बड़े-बड़े डॉक्टर ऑफिसर लेकर परीक्षा करेंगे देखेंगे सब उसके बाद खाएंगे इसी प्रकार राजा भी खाने के लिए डर है पानी पीने के लिए खाने के लिए भय है कि कोई विषय रख सकता है ऐसे पहले मंत्री सेनापति आदि सेवा करने वाले भी कभी मर देते मरवा देते हैं ऐसे होता अभी भी मंत्री फंत्री को कोई मरवा देते हैं तो इसलिए क्या करेंगे वो पहले रखते थे चक्कर पक्षी एक है उसको रखते हैं और भगवान ऐसे शक्ति भगवान के द्वारा शक्ति दी गई जो मनुष्य के पास नहीं पशु पक्षी में है आंख से देखने पर ही यदि कोई खाद्य में विषादी हो उसका आंख लाल हो जाएगा मनुष्य के सो जाता है देखने से पता चलता है कुछ नहीं कितने पशु सूं करके पता जान लेते हैं और कुछ पक्षी तो दूर से देख करके उनको पता चल जाता है यदि भोजन में विष मिश्रित है तो पक्षी चक्षु का पक्षी लाल लाल हो जाए तो राजा देखेंगे लाल लाल दिखता है तो नहीं खाएंगे और लाल नहीं कुछ नहीं पक्षी देख रहा है वो खा लेंगे वो क्या कुछ करता है कुछ नहीं अपने वो बैठा है पक्षी को कुछ नहीं करना है किंतु वो देखता है जब देखते समय आंख लाल नहीं हुआ तो संदेह रहित होकर कर खा लेते हैं केवल पास में रखेंगे भोजन करते समय पक्षी को लाकर रख दिया और रख दिया अपने खाने लगा देखा वो देखा परीक्षा हो गई अब डॉक्टर आदि के पास जाना जरूरत नहीं पक्षी को लाकर रख दिया और देखते ही इस देखा आंख लाल नहीं हुआ खाने लगा तो यहाँ चौकोरे अधिष्ठातु चकोर ये प्रवर्तक हो गया चकोर राजा भोजन में प्रवृत्त होने में प्रवर्तक कौन हुआ चकोर शब्द बोलता है खाओ या सिर हिलाता है ना सिर हिलाता है ना बोलता है क्यों क्या करता है सन्निधि मात्रेण सन्निधि मात्रेण था राजा कप्पे पास में रहने से राजा भोजन करने लग जाता है राजा के भोजन में प्रवृत्त हो गया चकोर सन्निधि मात्रेण यथा राजा भोजन आदि प्रवृत्ति निमित्तम तो, भोजन आदि में प्रवृत्ति का निमित्त होता है तद्वत इसी प्रकार यहाँ किस सन्निधि से ये मन आदि जड़ में प्रवृत्ति होती है भाष्य में विविक्त नित्य चित स्वरूपतया तो निमित्त मात्रम प्रभुतो नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्रिवत विविक्त नित्य चित स्वरूपतया हाँ, विविक्त सबसे पृथक असंग है असंगी असंग होता हुआ नित्य चित स्वरूप असंग नित्य चित स्वरूप आत्मा विविक्त नित्य चित स्वरूप विविधता सबसे विलक्षण शुद्ध नित्य चित आया तो निमित्त मात्रम आत्मा केवल निमित्त मात्र असंग होता हुआ सबसे पृथक रहते हुए नित्य चित स्वरूप मात्र से आत्मा निमित्त मात्रम प्रवृतो प्रवृत्ति में निमित्त मात्र कुछ व्यापार करके नहीं निमित्त मात्र चेतन कुछ व्यापार करके नहीं चेतन व्यापार करेगा तो सक्रिय होगा तो अनित्य हो जाएगा नित्य वस्तु है कुछ क्रिया व्यापार नहीं है वो प्रवृत्ति में निमित्त हो जाता है जिस प्रकार नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्रिवत नित्य चिकित्सा है क्या नित्य चिकित्सा क्या है भोजन उसमें अधिष्ठात्री प्रेरक कौन हुआ चकोर क्या करके प्रवर्तक हुआ सन्निधि मात्र प्राण इति नासिका भव यहाँ उस अच्छा ये हाँ आगे मन जाता है फिर आगे प्राण प्रथम प्रीति युक्त केन सितम पतति पेशित मन केन प्राण प्रथम प्रीति युक्त केन प्राण प्राण शब्द जो दिया है यहाँ नासिका भव नासिकायाम भव नासिका भव नासिका घ्राण में होने वाले घ्राण इंद्रिय लेना प्राण सदस्य यहाँ घ्राण इंद्रिय लेना क्योंकि प्रकरणार्थ अभी मन आदि चक्षुर आदि भी करण का नाम है इसलिए इंद्रिय लेना प्राण शब्द से जो वायु प्राण नहीं यहाँ घ्राण इंद्रिय लेना तो उसमें घ्राण इंद्र के प्राण शब्द प्रयोग किया गया क्योंकि इंद्रियों का व्यापार प्राण पूर्वक होता है तो आगे चक्षु सत्र आदि इंद्रियों का नाम होने से यहाँ प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय लेना क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण है प्रकरणादिति प्रकरण सन्निधानात इत्यर्थ प्रकरण सन्निधि के कारण करण सन्निधानात प्रकरण करण सन्निधानात चक्षुरादि करण के सन्निधि में कहा गया प्राण होने से वही घ्राण इंद्रिय लेना प्रथमत्वम प्रथम प्रीति प्राण प्राण प्रथम क्यों हवा प्रथमत्वम चलन क्रियाया प्राण निमित्तत्वाद सतो विषय भाष मात्रम करणानाम प्रवृत्ति प्रथमतम चलन क्रिया प्राण निमित्तत्वात् किसी भी इंद्रिय में चलन क्रिया प्राण के निमित्त पहले प्राण व्यापार होता है तो यहाँ चलन क्रिया है प्राण निमित्तत्वात् तो हम प्राण शब्द से हे तो यहाँ घ्राण इंद्र लिया तो प्राण को प्रथम कह दिया जो घ्राण इंद्र का प्रवर्तक प्राण शब्द वो इंद्र में प्रयोग किया गया कारणवाचक शब्द कार्य में प्रयोग होता है आयुर्वेद घृतम घृत है आयुवर्धक तो उसको कारणवाचक शब्द घृत को भी आयु शब्द से कह देते हैं इसी प्रकार यहाँ घ्राणेन्द्र को प्राण शब्द से कहा कारणवाचक शब्द प्राण जो कारण प्राण है वो प्रथम है घ्राणेन्द्र प्रथम नहीं घ्राणेन्द्र का प्रेरक जो प्राण है वो प्रथम है क्योंकि चलन क्रिया प्राण निमित्तत्वाद किसी में भी कोई चलन क्रिया होती है तो प्राण के कारण स्वतः विशेष अभास विशेष अभास मात्रम करणा नाम प्रवृत्ति करण के प्रवृत्ति होते तो विषय हाँ, विषय अभास मात्रम विषय अभास मात्रम यही प्रयोजन करुणा नाम करुणा नाम प्रवृत्ति क्या करने में प्रवृत्ति क्या होती है करने में प्रवृत्ति होता है करने में व्यापार होकर विषय का अभास मात्र विषय का प्रकाश मात्र होता है यही प्रवृत्ति है और क्रिया जो होती है चौली क्रिया तो प्राण से व मनादिशु मनादि में जो चलन क्रिया वो प्राण के निमित्त और इंद्रिय की प्रवृत्ति क्या है केवल विषय को प्रकाशन करना तस्मात प्राथम्य प्राण से इसलिए प्राण प्रथम हुआ प्राण पूर्वक चलन हुआ चलन होने के बाद इंद्रिय से विषय मात्र विषय का प्रकाश हो जाता है इसलिए प्राण को प्रथम कहा प्रईति प्रक एति गच्छति युक्त का तो प्रयुक्त किससे प्रयुक्त होकर प्रेरित होकर जाता है प्राण वाचो आगे कहा केने सीता वाच में माम बदंती इस शब्द प्रयोग करते चक्षु सूत्र को कौन प्रेरणा करता है शिष्य का प्रश्न है वाचो वदनम के निमित्तम प्राण प्राणी नाम प्राणी है प्राण आश्रय संति न प्राण प्राणी जिनके प्राण है उनको प्राणी कहते यह शब्दवाचका था बदन शब्द प्रयोग करते किम निमित्तम उसका निमित्त क्या है वाग इंद्रिय में भी चे, चेतनत्व तो नहीं जड़ है फिर भी कभी-कभी भी शब्द प्रयोग होता है उसका निमित्त पैर को कौन है चक्षु को देव प्रयुता चक्षु श्रोत्रयोश्च चक्षु श्रोत्र इंद्रिय ये भी जड़ है तो कौन देव उनका प्रेरक है को देव प्रयुता कर्णा नाम अधिष्ठाता चेतनावान यह स किम विशेषण इत्यर्थ ये प्रश्न का सार हुआ कर्णा नाम अधिष्ठाता जितने चक्षु श्रोत्र मन आदि करण है उनका अधिष्ठाता प्रेरक चेतना वाला कोई चेतन है जो चेतन है स किम विशेषण वो चेतन कौन है कहानी विशेषण अन्य से किम विशेषण अथवा किम विशेषण ऐसे कैसे विशेषण वाला प्रेरक तो सामान्य ज्ञान हो गया उसका विशेष ज्ञान होने के लिए विशेषण पूछते हैं सामान्य सब है एक प्रकार एक व्यक्ति देवदत्त कौन है सब काशा वस्त्र पहने तो इसी में कैसे पता चलेगा कोई विशेष बताओ किसी व्यक्ति पूछना है तो तो सामान्य है प्रेरक को कोई चेतन है किंतु वो कौन है यहाँ शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि ये सब दिखते हैं और कोई चेतन कोई दिखता नहीं तो कैसे विशेषण वाला है क्या विशेषण वाला है जो करना का प्रवर्तक है ये प्रश्न हुआ अभी द्वितीय मंत्र उसका उत्तर ठीक है में एवं पदभाष्य में एवं भाष्य में आया एवं पृष्ठवते योग्यायाह गुरु शृणुत्वम यत् पृच्छसि ऐसे पूछने पर गुरु ने उपदेश किया योग्याय आह पृष्ठवते योग्याय जो योग्य है अधिकारी है उसको गुरु उत्तर देते हैं योग्या आह गुरु शृणु तम यत पृच्छति तुम जो पूछना चाहते सुनो श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणस्य क्षुतस्य चक्षुः अतिमुच्च धीरः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रम जो तुम पूछते हो प्रेरक कौन है वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है मन का भी मन है यद वाचो हो वाचम वा का भी भाग है वाचो हो वाचम यत सद यस्मात क्योंकि वा का भी भाग है श्रोत्र का भी श्रोत्र है मन का भी मन है सौ प्राण से प्राण वो प्राण का भी प्राण चक्षु का भी चक्षु है तस्माद यस्मात ऐसा है इसलिए अतिमुच्य धीरा अतिमुच्य इसलिए अतः ज्ञात्वा ऐसे जान करके यत यत का यस्मात इसका अतिमुच्य धीरा धीरा अतिमुच्य श्रोत्रा अतिमुच्य का तो छोड़ करके ऐसे जो प्राण का प्राण सूत्र का सूत्र चक्षु का चक्षु है उसको जान करके यस्मात् वाचो वाचम प्राणस्य प्राणस्य चक्षुः चक्षु तस्मात् ज्ञात्वा आगे अतिमुच्य का अर्थ छोड़ करके क्या छोड़ना श्रोत्रादि में आत्मत्वम चक्षु श्रोत्रादि में जो अहम बुद्धि है भाव उसको छोड़ना त्याग ही है इंद्रिय में जो अहम बुद्धि है देहादि में अहम बुद्धि अभिमान उसको छोड़ना है अतिमुच्य का त्यक्त श्रोत्रादि आत्मभाव परित्यज्य धीरा विवेकी है वही विवेकी होते हैं जो आत्मभाव छोड़ते हैं देहादि में इंद्रियादि में अहम बुद्धि कर बैठे वो धीर नहीं अविवेकी नहीं है वो तो बहुत उड़ते हैं सुख तिनका रुई जैसे उड़ते हैं इसी प्रकार उड़ते हैं विवेक नहीं करने वाले उड़ते हैं पानी में सूखी लकड़ी बह जाती है इसको धीर नहीं कहते धीर है प्रवाह से जो बहता नहीं उड़ता नहीं थोड़ा विचार करके कहीं चलना है तो विचार कर चलना नहीं कि सब दौड़ तो हम भी दौड़े लोग दौड़ने लगे ये भी दौड़ने लगे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं सब दौड़े हम भी दौड़े <clears throat> कभी कैसे होता है कोई दौड़ने लगे भी, भी चला दौड़ रहा फिर पूछता है क्यों दौड़ते हैं स्वयं भी दौड़ रहा है पूछ रहा है क्यों दौड़ते हैं ऐसे वो धीर हो तो विचार करके क्यों दौड़ना क्या है तो ये धीर होता है जो देह आदि सत्र आदि इंद्रिय में आत्म भाव त्याग करता है इसे धीरा प्रत्य प्रत्य का अर्थ सर्वेषणा सवेषणा को छोड़ करके सर्वेषण त्यक्त सर्वेषण भूत्वा सारे इच्छाओं का त्याग करके आगे दूसरे प्रकार भी कहेंगे अतिमुच कह कहेंगे सब छोड़ना तो तृष्णा का त्याग हो जाएगा तो प्रत्येक अर्थ मृत्यु भी करेंगे मर करके अतिमुच का अर्थ श्रोत्रादि में आत्मभाव त्याग करना अप्रत्यय कह करके सब वेषणा का छोड़ करके और एक प्रकार व्याख्यान है अतिमुच्च से है सब का त्याग करते समय ऐसा का त्याग भी आ जाएगा इसे प्रत्यय का मृत्यु मरने के बाद लोकाद अमृता थी फिर अमृत हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं मन आदि कर्ण जातस्य को स्व स्वविषम प्रति प्रेरिता कथम वा प्रेरयति इति ये प्रश्न है यत पृच्छसि यदि तुम पूछते हो मन आदि करण जातस्य को देव स्वविषयं प्रति प्रेरिता मन आदि करण जात करण वर्ग मन चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों का कौन सा देव है प्रकाशमान देव चेतन देव का थे चेतन प्रकाशक स्व विषय प्रति प्रेरिता अपने विषय अपने अपने इंद्रिय के विषय के प्रति प्रेरणा देने वाला कौन चेतन है एक प्रश्न दूसरा कथम बा प्रेरिति और चेतन किस प्रकार प्रेरणा करता है कुछ शब्द प्रयोग करता है हाथ पकड़ कर चलाता है अथवा कुछ कहता है या सन्निधि मात्र से किस प्रकार प्रेरणा करता है इति इति अच पृच्छसि तस्नु इति के साथ पृच्छसि क्या सुनुत्वम यत् पृच्छसि मनादि करण से को देव सब विषम प्रति प्रेरिता कथम बा प्रेरिति इति यत् पृच्छसि तम सुनो ऐसा जो पूछते हो उसका उत्तर सुनो श्रोत्र से श्रोत्र उत्तर दिया श्रोत्र का श्रोत्र है श्रोत्र शब्द का अर्थ करते सुनोत्य अनेनैति श्रोत्रम जिसके द्वारा कोई सुनता है जीव मन, मनुष्य पशु प्राणी वो श्रोत्र है श्रोणोत्य अनेनैति श्रोत्रम श्रु धातु से टन हो जाए कर्ण में श्रोत्र हो गया शब्दस्य प्रति कर्णम शब्द अभिव्यंजकम श्रोत्रम इंद्रियम श्रोत्र शब्द का तो श्रोत्रम इंद्रियम श्रोत्र इंद्रिय कैसे हुआ शब्द से श्रवण प्रति कर्णम शब्द से श्रवणम भवती शब्द का श्रवण होता है सुनते श्रवण होता है मतलब जन ज्ञान शब्द सुनते तो श्रवणजन ज्ञान होता है उसे ज्ञान के प्रति कर्णम ज्ञान है क्रिया उसका कोई कर्ण चाहिए क्रिया हो तो कर्ण होगा शब्द से हमको ज्ञान हुआ श्रवण हुआ मतलब ज्ञान हुआ श्रवण शब्द सुनते हमको ज्ञान हुआ वो ज्ञान जो क्रिया है उसका कोई कारण है वो शब्द का श्रवण के प्रति जो कारण है वो कारण हो गया इंद्रिय जो कि शब्द का अभिव्यंजक शब्द अभिव्यक्ति का कारण हुआ शब्द का ज्ञान हुआ ज्ञान का कर्ण हुआ शब्द कुछ मीमांसा में शब्द को नित्य मानते हैं हमेशा शब्द है होने पर क्यों शब्द सुन सुनाई नहीं पड़ता है कर्ण जब इंद्र प्रवृत्त होता है तो अभिव्यक्ति होती है श्रवण इंद्रिय तो के द्वारा ज्ञान होता है शब्द रहने पर भी ज्ञान नहीं होगा कर्ण इंद्रिय के संबंध के बिना तो श्रवण इंद्रिय जो कर्ण है शब्द का अभिव्यंजक अभिव्यक्ति जनक कर्ण से शब्द की अभिव्यक्ति ज्ञान होता है उसको श्रोत्रम इंद्रिय को ही श्रोत्र शब्द से श्रोत्रम वो इंद्रिय है श्रवण इंद्रिय श्रोत्रम हुआ उसका जो श्रोत्र है जो तुम पुषित हो उसका प्रेरक उसका भी श्रोत्र है उसका भी श्रोत्र शब्द को सुनने वाला तो कर्ण हो गया श्रवण इंद्रिय सुनने वाला श्रोता जीव है श्रवण इंद्रिय के द्वारा सुनता है और श्रवण इंद्रिय को सुनने वाला कौन है उसका भी सुनना किसके द्वारा तो यहाँ श्रोत्र शब्द से साक्षी लेना श्रवण इंद्र की साक्षी ही जिसके कारण श्रवण इंद्रिय में ये सामर्थ्य आता है स यस्तया पृष्ठश्चक्षु श्रुत्रम कौ देव युनक्तीति तुमने जो पूछा चक्षु को कौन देव प्रेरित करता है श्रोत्र को लगाता है अपने व्यापार में जो पूछा था वो श्रुत्र का भी श्रुत्र है टीका में प्रतिवचन से प्रश्न अननुरूपत्वम आशंक्य समाधते प्रतिवचन है उत्तर प्रश्ना ननुरूपत्वम प्रश्ना ननुरूपत्वम प्रश्न अनुरूपत्व प्रश्न के अनुरूप नहीं हुआ स्पष्ट बताना चाहिए श्रोत कौन प्रेरणा करता है क्या जो सूत्र का भी श्रोत चक्षु क्या चख्यु ये क्या पता चलेगा सूत्र में प्रवृत्ति क्यों होती ना सूत्र का जो सूत्र है वो क्या सूत्र का सूत्र क्या हो कौन जानता है सूत्र का सूत्र कौन ये प्रश्न कर कहते ये क्या प्रश्न का उत्तर हुआ असाव एवं विशिष्ट सूत्रादि ने न्यूनत इति वक्तव्ये नन्वेतद प्रतिवचनम सूत्र से सूत्रमिति असौ एवं विशिष्ट वह जो आप पूछते हो प्रेरक एवं विशिष्ट एवं विशेषण युक्त अमुक विशेषण वाला है किसके लिए पूछा तो विशेषण बताते ऐसे विशेषण वाला कहना चाहिए असौ का अर्थ जो प्रेरक है चक्षुरादि श्रोत्रादि का वो ऐसे विशेषण वाला ऐसे कहना चाहिए अमुक विशेषण वाला श्रोत्रादि नियुक्ते श्रोत्रादि को प्रेरित करता है अपने व्यापार में लगाता है व्यापार में लगाने वाला कुछ विशेषण से उस ऐसा विशिष्ट ऐसा कहना चाहिए इति वक्तव्य ऐसा वक्तव्य सति ऐसा कहना चाहिए ये नहीं कह करके कहते श्रोत्र का भी श्रोत ननु एतद अननुरूपम प्रतिवचनम ये प्रतिवचन उत्तर तो योग्य नहीं हुआ अनुरूप हुआ प्रश्न एक प्रकार उत्तर एक दूसरे प्रकार है ये क्या है तो अनुरूपम प्रतिवचन ये तो योग्य नहीं अनुरूप अयोग्य उत्तर हो गया सिद्धांति कहता नहीं सदोष ये दोष नहीं है यदि जिसका कोई विशेषण धर्म हो विशेष कहना चाहिए जिसका विशेष नहीं है उसको क्या विशेष कहेंगे जिसका विशेष है वो विशेष वाला होगा हैं हाँ? जिसका विशेष है वो विशेष वाला है क्या उसका विशेष कहा जा सकता है और जिसका कोई विशेष नहीं उसमें कितने विशेष रहेंगे तो क्या विशेषण कहेंगे आ इसका कोई विशेष है ही नहीं वो कहा नैष दोष तस्य अन्यथा विशेषणगमात श्रोत्र का श्रोत चक्षु का चक्षु इसलिए कहा अन्यथा अन्य प्रकार न श्रोत्रादि का जो प्रेरक है वही आत्मा है अन्यथा अन्य प्रकार ने विशेष अनगमा अनवगमात अन्य प्रकार कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है अन्य प्रकार विशेष यदि होता तो उस विशेष को आना चाहिए उसका कोई अन्य विशेष है ही नहीं नहीं होने से ऐसे ही उपदेश किया जाएगा वायु कौन है थोड़ा दिखाओ देखा सकते तो ना इसे लक्षण क्या वृक्ष आदि कंपन है तो वायु वृक्ष में पत्र आदि हिलता है देखो हिला है जिसके कारण हिल रहा है वायु और क्या कहेंगे सब देखा तो नहीं सोते क्या लक्षण क्या वृक्ष आदि चलने तो कंपन है कंपन है तो वृक्ष आदि कंपन है तो वायु और उसमें रूप रहित स्पर्शवान वायु अच्छा उसका लक्षण रूप नहीं रूप रहित तो स्पर्शवान वायु तो वायु का लक्षण है विषय नहीं वृक्षादि कहाँ वो विषय का लक्षण हाँ विषय वो वायु सामान्य का लक्षण ही क्या क्योंकि वायु इंद्रिय भी है विषय भी है और विषय वायु दिखाने के लिए वृक्षादि कंपन है तो बता दिया तो यहाँ इस प्रकार स्पष्ट कहना चाहिए असो एवं विशिष्ट नहीं कह करके क्यों कहा तस्य अन्यथा विशेषण अगमात यदि यदि श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट श्रोत्रादि नियुत अवगम्यत दात्रादि प्रयुत्रिवत तदैदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात् न तो यह श्रोत्रादि न प्रयुता स्वव्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्यते यदि ही यदि श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन श्रोत्रादि का जो व्यापार है उस अन्य कोई व्यापार से विशिष्ट होता कोई जैसे दंड चलाता है घट दंड घुमाता है चक्र घुमाता है दंड चक्र में जो व्यापार होता है उसे व्यापार से भिन्न कोई व्यापार कुलाल में है है दंड का व्यापार अलग उससे व्यतिरिक्त तो कुलाल व्यापार है दंड को घुमाना दंड घूमता है और कुलाल घुमाता है तो इसी प्रकार श्रोत्रादि कर्ण का जो व्यापार उसे व्यतिरित न उससे अतिरिक्त कोई व्यापार वाला हो, व्यापार होता सौ व्यापार ने विशिष्ट जैसे कुलाल स्व व्यापार ने विशिष्ट तक्षक बड़ई स्व व्यापार ने विशिष्ट होता है वास्य में वासुला में व्यापार होता है उससे अतिरिक्त व्यापार तक्षक बढ़ई में है वो वासुला को चलाता है सौ व्यापार ने विशिष्ट अपने व्यापार से विशिष्ट श्रोत्रादि नियुक्ता श्रोत्रादि क्या नियुक्ता ऐसे वास्य का नियुक्ता बड़ी दंड चक्र का घुमाने वाला कुलाल वो अपने व्यापार से विशिष्ट अवगम्यते दिखता है कुलाल कुछ व्यापार करता है तभी दंड चक्र घूमते हैं घुमाता है इसी प्रकार यदि श्रोत्रादि के व्यापार से अतिरिक्त तो कोई व्यापार वाला प्रेरक ऐसे ज्ञान होता तो उसको कहते जैसे एक दृष्टांत है दात्रादि प्रयुत्रिवत दात्रम दाप लवण सिस्टन करते दात्रम बनेगा दराती कहते दात्र को हिंदी में काटते हैं काटने के दात्र लवण छेदन करने के लिए दात्र आदि उसको चलाने वाला कोई घास काटते दात्र दराती लेकर के कलम घास काटते हैं तो उसका प्रयोगता प्रयोगता कोई व्यापार करता है व्यापार करता है तभी दात्र में काटना होता है अब व्यापार नहीं करा तो इसे पड़ा रहेगा काटेगा क्या दात्रादि प्रयुक्ति व दात्रादि का प्रयुक्ता का जैसे अलग व्यापार है दात्री व्यापार के अपेक्षा प्रयुक्ता का व्यापार अलग दात्र को चलाता है ऐसे यदि कोई व्यापार विशिष्ट होकर के श्रोत्र का ज्ञान होता तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचन सा तभी ये जो उत्तर दिया श्रोत्र से श्रुतम ये प्रतिवचन अननुरूप होता अयोग्य होता ठीक नहीं होता उसका व्यापार करना चाहिए ऐसे कोई पता है दात्र आदि को चलाने वाले कौन है वो दात्र के व्यापार को देखा तो दाता जी हिलाए देखो दात्र आदि को चलाने वाले कौन है प्रश्न किया क्या दाता दाता देखो चल रहा है ये व्यापार से दिखाएंगे दात्र के व्यापार की अपेक्षा कोई दूसरा व्यापार करता है काटने वाला करता है तो जो व्यापार वाला को कहते लाभक लाभक लाभक कह छेदन करने वाले कौन है छेदन करने वाले दात्री में व्यापार करने वाला देखो जो दात्री को चलाता है इसी प्रकार श्रोत्र में जो व्यापार हो रहा है उसके व्यापार का प्रयोगता उसी व्यापार से अन्य व्यापार वाला यदि कोई होता दिखता तो उसको दिखाना चाहिए था उसको नहीं दे करके श्रोत्र से श्रोतम ये उत्तर अनरूप अनुरूप नहीं योग्य नहीं अयोग्य होता किंतु अन्यथा उसका विशेष है ही नहीं श्रोत्रादि का व्यापार श्रोत्रादि व्यापार का प्रेरक निष्क्रिय है कोई व्यापार है नहीं विशेष उसका नहीं है अन्य कोई तभी यदि अन्य कोई होता तो रूप प्रत्युवचन होता न तो श्रोत्रादि नाम प्रयुता स्व्यापार विशिष्ट लवित्रादिवत अधिगम्यते दात्र का प्रयुक्ता स्व्यापार विशिष्ट कोई ज्ञान होता है ज्ञात होता है नहीं दात्रा का प्रयुक्ता स्व व्यापार विशिष्ट स्व व्यापार दात्रा को चलाना ये तो दिखता है लवित्री लवित्री छेदन करने वाला लुयन छेदन है त्रिच करें तो लवित्री लवित्री छेदन करने वाले अपने व्यापार दात्र को चलाना रूप व्यापार विशिष्ट दिखता है जिस प्रकार दात्रादि का व्यापार से अलग छेदक का व्यापार स्व व्यापार विशिष्ट लवित्री दिखता है इसी प्रकार यह नाम प्रयुक्ता न दृश्यते नाधिगम्यते श्रोत्रादि का प्रयुक्ता प्रेरक कोई अपने व्यापार से युक्त होता है ऐसा नहीं न अधिगम्यते जाना नहीं जाता है यदि ऐसा कोई अपने व्यापार से विशिष्ट होता हो तो उसको तो बताते दिखाते श्रोत्र का जो प्रेरक है क्या व्यापार करता है कुछ व्यापार नहीं करता है सब व्यापार विशिष्ट कोई लवित्रादि वद न अधिगम्यते श्रोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलवसान लिंगेन अवगम्यते श्रोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेण श्रोत्रादि संहत मिल करके कार्य करते हैं संघात होता है समुदाय संघ सब मिल मिलते हैं तो श्रोत्रादि नाम संहता नाम संहत होकर के इकट्ठे मिल करके व्यापार उनका व्यापार से सूत्रादि का व्यापार क्या है आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षण आलोचन दर्शन है चक्षुरिंद्र का व्यापार संकल्प मन का अध्यवसाय बुद्धि का ये सब व्यापार है आलोचन संकल्प अध्यवसाय स्वरूप व्यापार से व्यापार से फल अवसान लिंगेन अवगम्यते इन व्यापार से ज्ञात होता है प्रेरक इंद्रिय में व्यापार होता है तो व्यापार का प्रेरक कोई निश्चय होता है फल फलावसान लिंगे न फलावसान लिंगे न फल निष्पत्ति है लिंग जिसका व्यापार से फल निष्पत्ति ज्ञान होता है अभी बताएंगे पहले टीका भी देख लो श्रोत्रादय स्विलक्षण शेषा संहतत्वाद गृहाधिपत इत अनुमानेन श्रोत्रादिशेषी शेषि तावत अवगम्यते श्रोत्रादि कर्ण है जिस प्रकार स्व कर्ण स्विलक्षण शेष विलक्षण का शेष है अथवा गृह गृह में दीवार पत्थर सब मिलकर के गृह होता है गृह बनाते किस लिए दीवार को रखने के लिए या दरवाजा लगाने के लिए गृह के अंदर दीवार दरवाजे सब आ गए गृह से विलक्षण कोई व्यक्ति रहेगा जो व्यक्ति रहेगा वो गृह संघात के अंतर्गत है या भिन्न है भिन्न है नहीं कि गृह बनाए के दीवार रखने के लिए छात बनाने के लिए छात डालने के लिए छात गृह सब मिल करके उसे विलक्षण चेतन रहने के लिए बनाते हैं जैसे गृहादि स्विलक्षण का शेष स्विलक्षण का साधन है गृह गृहादि का से विलक्षण चैत्र मैत्र आदि वास करने वाला रहने वाला उसके लिए घर बनाते हैं रहने के लिए श्रोत्र आदि भी संगत होकर क्या कार्य करते हैं वो भी अपने से भिन्न का शेष होंगे जैसे गृह आदि अपने से विलक्षण गृह स्वामी क्या है गृह स्वामी के लिए इसी प्रकार श्रोत्र चक्षु आदि सब संगत होकर कार्य करते हैं वो उनसे विलक्षण स्वामी के लिए जो स्वामी है होगा शेषी और श्रोत्र आदि होगा शेष शेष अस्यति शेषी शेष होता साधन और जिसके लिए उपकारक होता है शेष उपकार्य होगा शेषी श्रोत्रादय स्विलक्षण शेषा स्विलक्षण का शेष श्रोत्रादि विलक्षण चेतन उसका शेष संगतत्वाद गृह आदिवत दृष्टांत हो गया गृह गृह में हेतु है क्या हेतु है संगतत्वम साध्य है साध्य क्या है स्विलक्षण से सत्वम इसी प्रकार श्रोत्र आदि में भी संगतत्व हेतु रहने से स्विलक्षण से सत्व साध्य रहेगा श्रोत्र आदि से विलक्षण चेतन उसका ही साधन है उपकार के इत अनुमानेन श्रोत्रादि शेषी तावत अवगम्यते जिसका ये आदि शेष है उसको क्या कहेंगे शेषी आदि का शेषी वो शेषी होता है कोई एक है सूत्रादि शेषी अनुमान से निश्चित होता है वो तो अवगम्यते वो जो शेषी होगा वो यदि संहत मानेंगे संहात संघात के अंतर्गत मानेंगे तो वो भी किसका किसी के लिए हो जाएगा उसका भी कोई शेषी मानना पड़ेगा सोपि संहत स्यात् तरी यदि सोपि संहत स्यात् जो सूत्रादि का शेषी वो यदि संघाते के अंतर्गत आ जाएगा तरी गृहाधिपत अचेतन स्यात तो वो भी अचेतन हो जाएगा अचेतन होगा तो क्या होगा तत तस्यापि अन्य शेषिकल्प्य ततः तस्यापि श्रोत्रादि संघात का जो शेषी है वो यदि संघात के अंतर्गत था जड़ हो गया तो उसका भी कोई शेषी होगा कल्पना करना पड़ेगा ततः तस्यापि अन्य कल्प्य तस्यापि अन्य फिर जो है शेषी वो यदि संघात संघात के अंतर्गत उसका भी कोई ऐसी ऐसे में कल्पना करते जाए तो अनवस्था दोष है तो अनवस्था प्रसंग परिहाराय चेतन गम्य से सिद्ध होगा श्रोत्रादि का जो शेषी है वो असंगत है जड़ नहीं चेतन है श्रोत्रादि यदि शेष कोई जड़ का ही शेष मानेंगे वो जड़ भी किसका शेष है जड़ भी किसका शेष है उसका भी कोई शेषी उसका भी कोई शेषी ये मानना पड़ेगा इसलिए वो जड़ नहीं है और असंगत है संगत नहीं संगत होगा तो उसका भी कोई अलग सृष्टि हो जाएगा से परार्थत्वाद यह संघातम तत्परार्थम घर जैसे संघात है दीवाला पत्थर आदि क्या वो पर के लिए गृह स्वामी के लिए गृह गृह के लिए नहीं गृह गृह स्वामी के लिए इसी प्रकार सूत्र आदि इंद्रिय समुदाय है वो उससे विलक्षण के लिए जो कि संगत नहीं है चेतन है जड़ नहीं अतः सर्वसाक्षिणम लक्षित युक्तम एवं प्रतिवचनम इत्यर्थ श्रोत्र का जो साक्षी चक्षु सूत्र आदि का जो प्रेरक सब का साक्षी सब का जो साक्षी है उसको लक्षण करने के लिए ऐसे उत्तर है और उसमें दिया था भाष्य में फलावसान लिंगेन अवगम्यते सूत्रादियों संगत है उनका व्यापार आलोचन संकल्प आदि है उससे ज्ञान होता है फलावसान लिंग फलावसान लिंग हो गया आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणम आलोचन संकल्प अध्यवसाय रूप हेतु हे ये इनसे ये लिंग है फलावसानम फलावसानम लिंगम यस्य फलावसान फल निष्पत्ति ज्ञान ज्ञान है लिंग ज्ञान रूप लिंग से व्यापार ज्ञान फलवसानम लिंगम यस्य व्यापारस्य व्यापार का लिंग हो गया फलवसान ज्ञान ज्ञान लिंग से व्यापार का अनुमान होता है और व्यापार से शेषी का अनुमान होता है ये अनुमान बताएंगे कल को ओम आप्या